मंगीता और लरीना एक वक्त का किस्सा है झील के शहर लुजोन में एक मछुआरा अपनी दो बेटियां मंगीता और लरीना के साथ रहता था मंगीता बड़ी बेटी थी और वो सभी से मोहब्बत करने वाली और रहम दिल थी छोटी वाली लरीना हालांकि अपनी बहन के बिल्कुल ही उलट थी वो दूसरे लोगों के लिए बेरहमी का मुजाहरा करती तितलियां पकड़ती और उन्हें सिर्फ मजा लेने के लिए बोतल में बंद कर देती और अक्सर अपनी बहन से बेअदबी से बात करती मंगीता घर का सारा काम करती और इस बात का ख्याल रखती कि खाना वक्त पर पक जाए ताकि जब पूरे दिन का काम खत्म करके उनका वालिद घर वापस आए थका हुआ और भूखा तो उसके लिए खाने के लिए खाना तैयार हो लरीना ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की और अपने वालिद के मुतालिक जरा भी परवाह नहीं की वो अपना वक्त झील के पास बैठकर बिताती अपने बाल बनाते हुए अपने अक्स को देखते हुए क्या मैं शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ <laughs> ओ मैं किससे मजाक कर रही हूँ पूरी सल्तनत में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है <laughs> इस छोटे से गरीब कस्बे की क्या बिसात <laughs> एक दिन मछुआरा बहुत बीमार हो गया और गुजर गया मंगीता बहुत गमजदा हो गई वो घंटों रोती रही और मातम मनाती रही पर जल्द ही उसे ये इल्म हो गया कि उसके घर की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है उसने अपना होश संभाला और अपने फैसले के बारे में जाकर लरीना को बताया हमेशा की तरह लरीना झील पर बैठी थी अपनी खूबसूरती को इतराते हुए बहन मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक अहम मुद्दे पर बात करने आई हूँ चली जाओ क्या तुम देख नहीं रही कि मैं मसरूफ हूँ खैर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आह क्या बात है खैर क्योंकि अब अब्बा हमारे साथ नहीं है अब हमारे लिए कमाने वाला कोई नहीं रहा इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हर रोज बाजार में जाकर मछली बेचूंगी मुझे इल्म नहीं कि क्या ये गुजारे के लिए काफी होगा या नहीं पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ठीक है जो कुछ भी हो अब तो मुझे अकेला छोड़ दो तुम्हें मुझसे इतनी बेरुखी दिखाने की जरूरत नहीं है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तुम ये जानती हो आह मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है बहन मैं गलत घर में पैदा हुई थी पर ये जान लो हालात हमेशा एक से नहीं रहेंगे मेरे मुकद्दर में एक रोज मलिका बनना लिखा हुआ है और इस हकीर शहर और तुम सबको पीछे छोड़ देना होगा मेरा खूबसूरत शहजादा आएगा मुझे लेने के लिए जरूर तुम देखोगी मंगीता ने आह भरी मेरे लिए तुम्हारी खुशी के अलावा और कोई तमन्ना नहीं है मेरी बहन दिन गुजरते गए और मंगीता ने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने और अपनी बहन के गुजारे के लिए एक दिन जब वो थोड़े से सिक्के लेकर घर लौटी तो उसे बहुत फिक्र हुई लरीना मुझे मुआफ करना पर जो मैं कमाती हूँ वो हम दोनों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है क्या कल से तुम मछली बेचने में मेरी मदद करोगी क्या तुमने अभी अभी क्या कहा मैं तुमसे कह रही हूँ कि मछली बेचने में तुम मेरी मदद करो ताकि हम दोनों गुजारे के लिए माकूल पैसा कमा सके मेहरबानी करके जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा मैं मुस्तकबिल की मलिका हूँ तुम चाहती हो कि मैं एक काश्तकार बन जाऊँ बिल्कुल नहीं पर बहन बहुत हो गया मैं झील पर जा रही हूँ मंगीता बहुत मायूस हो गई वो बैठ गई और रोने लगी लरीना घर से बाहर निकली और उसने एक बूढ़ी खातून को बाहर खड़े देखा तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया ओ प्यारी बच्ची मैं भूखी और प्यासी हूँ और मैं मीलों चलकर आई हूँ क्या रहम करके तुम मुझे खाने के लिए एक रोटी और पीने के लिए पानी दोगी क्या मैं तुम्हें माँ लगती हूँ मेरे सामने से हट जाओ लरीना ने बुढ़िया को अपने रास्ते से धकेल दिया और चली गई आ, या खुदा एक बूढ़ी खातून की पुकार सुनकर मंगीता फौरन अपने घर से बाहर आई वो बूढ़ी खातून को गिरे देखकर खौफजदा हो गई मुझे माफ करना मंगीता ने बूढ़ी खातून को खड़े होने में मदद की और उसे घर के अंदर ले आई बूढ़ी खातून ने उसे बताया कि कैसे लरीना ने उसे धक्का दिया था मंगीता हैरान रह गई आ, मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ मेरी बहन कभी-कभी थोड़ी बेरहम हो जाती है मुझे अफसोस है ओ, ओ, कोई बात नहीं तुम रहम दिल लगती हो क्या तुम रहम करोगी मुझे खाने के लिए थोड़ी रोटी और पीने के लिए थोड़ा पानी देकर मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी यहाँ से मंगीता ने सिर हिलाया और उसके लिए वो सिर्फ रोटियां ले आई जो उसके पास थी उसने उसे पानी का गिलास भी दिया बुढ़िया खातून ने खुशी खुशी रोटी खाई और पानी पिया ओह बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची तुम एक रहम दिल इंसान हो ये कहकर बूढ़ी खातून चली गई मंगीता खाली पेट सो गई कुछ दिनों के बाद मंगीता बीमार हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गई हमेशा की तरह लरीना ने ज्यादा परवाह नहीं की ओह बहन मेहरबानी करके बाजार जाओ और मछली बेचो गुजारा करने के लिए कोई जमा पूंजी नहीं है मैं कहीं नहीं जा रही मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ ये कहकर ललीना घर से बाहर आई और उसे दोबारा वो बूढ़ी खातून मिली फिर से तुम अब तुम्हें क्या चाहिए मैंने सुना है कि मंगीता बीमार है मैं उसके लिए बीज लाई हूँ जिससे उसे सेहतमंद होने में मदद मिलेगी मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे उसे एक बीज दे सकूं और उसकी तीमारदारी कर सकूं। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी लरीना ने अपने दांत पीसे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगिता ठीक हो उसने मुस्कुराने का दिखावा किया ओ, तुम्हें खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं वो मेरी बहन है मुझे वो बीज दे दो और मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि उसकी तीमारदारी हो सके क्या तुम्हें यकीन है ओ, बिल्कुल ठीक है फिर लरीना ने बूढ़ी खातून से बीजों का थैला लिया मंगीता का बुखार और तेज हो गया था पूरी रात वो सो न सकी वो अपने बिस्तर पर करवट लेती रही उसकी आंखें पीली होने लगी लरीना को बहुत खुशी हुई अपनी बहन को तकलीफ ज्यादा देखकर उसने उससे उन बीजों के मुतालिक एक मर्तबा भी नहीं बताया और बीजों को बिस्तर के नीचे छिपा दिया अगली सुबह जब उसकी आंख खुली उसने देखा कि मंगीता पसीने से तरबतर है वो मुस्कुराई और जब वो घर से बाहर निकली बूढ़ी खातून दाखिल हुई हाँ? तुमने बिना इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की बूढ़ी खातून मुस्कुराई और उसने अपनी उंगलियां चटकाई फौरन ही वो एक बहुत ही खूबसूरत शख्स में तब्दील हो गई क्या तुम तु, तुम एक फरिश्ता हो <laughs> मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ मैं एक शहजादा हूँ हाउस वैली डोम का शहजादा स्टीवन मैं घूम रहा हूँ दुनिया भर में सबसे रहमदिल खातून की तलाश में जिससे मैं निकाह कर सकूं और मुझे मानना पड़ेगा आखिर में मुझे एक माकूल खातून मिल ही गई अगर वो मुझे कबूल करे खैर बेशक मेरे शहजादे तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस दिन के लिए मैंने कितने वक्त से इंतजार किया है चलो इस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं और हमेशा राजी खुश रम से रहेंगे खामोश हो जाओ तुम बेरहम खातून मैं तुम्हारे मुतालिक बात नहीं कर रहा था हाँ शहजादे स्टीवन ने अपनी नजरें मंगीता की तरफ घुमाई और अपनी आंखें बंद कर ली उसके जिस्म के इर्द गिर्द सुनहरी नूर घिर गया मंगीता जो अपने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए पड़ी थी वो भी उस सुनहरे नूर से रोशन हो गई लरीना ने यह सब हैरत जदा होकर देखा जल्द ही मंगीता ने अपनी आंखें खोली और खड़ी हो गई पूरी तरह सेहतमंद महसूस करते हुए शहजादे स्टीवन ने अपनी आंखें खोली और सुनहरा नूर गायब हो गया मंगीता हैरत जदा हो गई क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है शहजादा शिविर मुस्कुराया और उसने सब कुछ समझाया मैं पूरी रात बाहर था तुम्हें देखते हुए तुम्हारी बहन ने न सिर्फ तुम्हें बीजों से महरूम रखा बल्कि उसने तुम्हारी बदतर हालत के लिए दुआ भी की थी मंगीता ये सब सुनकर बहुत गमजदा हो गई वो अपनी बहन की तरफ मुड़ी बहन क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो ओह बराए मेहरबानी इस पूरे नाटक के लिए मेरे पास वक्त नहीं है अपने शहजादे के साथ दफा हो जाओ और मुझे तनहा छोड़ दो मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और ना कभी पसंद करूंगी मंगीता के आंखों से अश्क बह निकले पर शहजादा उसे तसल्ली देने के लिए आगे आया उसकी वजह से मायूस मत हो वो तुम्हारी मोहब्बत और रहमदिली के काबिल नहीं है चलो यहाँ से रुखसत हो और मेरी सल्तनत में चलो मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहूंगा अगर तुम मुझे अपना शौहर कबूल करो पर पर वो मेरी बहन है खैर कुछ लोग कभी नहीं बदलते बेहतर होगा तुम्हें अभी इसका इल्म हो जाए क्या तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया ये बहुत उबाऊ हो चला है मंगीता ने शहजादे स्टीवन की तरफ देखा और सिर हिलाया शहजादे स्टीवन ने अपनी उंगलियां चटकाई और दोनों हवा में गायब हो गए ये शादी शान शौकत से हुई मंगीता और शहजादा स्टीवन एक हो गए और दोनों बहुत ही खुशहाल और मुतमिन जिंदगी जिए लरीना वैसे ही बनी रही दूसरों के लिए बेरहम और जालिम वो जरा भी नहीं बदली मंगीता ने फिर भी इस बात का ख्याल रखा कि उसकी बहन को माकूल खाना मिलता रहे बिना उसे इसका इल्म हुए शहजादा स्टीवन कई दफा हंसता कि मंगीता को अभी भी उम्मीद है कि उसकी बहन बदलेगी खैर <laughs> कुछ लोग कभी नहीं बदलते मेरी बहन एक दिन बदलेगी मुझे ये इल्म है ओह मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं तुम्हारे लिए उसके एतमाद की बात कर रहा हूँ <laughs>